ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वासि प्रतिष्ठितम् ऋग्वेदीय ऐत्रोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम मंत्र के अवतरण के उपचार चल रहा था जिसमें आत्मा में श्रोतृत्व दृष्टित्व आदि नित्य है ये सिद्ध करना है मान दृष्टित्व आदि आत्मा का स्वरूप ही है अतिरिक्त नहीं है एक अनित्य दृष्टित्व आदि है बाह्य में दृष्टित्व आदि और आत्मा में जो है नित्य होता है नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरीत विद्यते दृष्टा का जो दृष्टि है चक्षुरादि दृष्टि तो अनित्य है किंतु दृष्टा का जो दृष्टि चक्षुरादि दृष्टि के वृत्ति को जानने वाला जो दृष्टा की दृष्टि होगी जिस ज्ञान से वृत्ति को जाना जाएगा वो नित्य ज्ञान वृत्ति ज्ञान तो अनित्य है वृत्ति को जो साक्षी है वो नित्य है प्रतिबोध विदम मतम शुक्र प्रसन्न कहा था प्रत्येक इंद्रिय जनित जो वृत्ति के जो साक्षी है वही तो आत्मा है इंद्रियों की वृत्ति को जो जान रहा है कौन सी वृत्ति बनी है वो साक्षी आत्मा ऐसा कहा है आगे टीका चलनी है नानो यदि अनित्यम दृष्टियादि अभ्युपगम्यत तभी तदेव आत्मा भी धर्म वस्तु यदि बाह्य दृष्टि को अनित्यादि दृष्टि मानेंगे चक्षुरादिजन्य दृष्टि चक्षुजन्य दृष्टि चक्षु की दृष्टि श्रुति आदि अनित्य मानते हैं तो आत्मा के भी वही धर्म मान लो ना फिर तो दृष्टि का दृष्टा क्यों मानना उसको ये समझा है नो यदि अनित्यम दृष्टि आदि अभिगमता यदि अनित्य दृष्टि स्वीकार की जाती है तो तरी तदेव आत्मा की वही दृष्टि आत्मा को भी हो किम नित्य दृष्टि आदि ना फिर आत्मा में नित्य दृष्टि आदि की कल्पना क्यों कर रहे हो आप इसके आगे बोलते हैं न तो नित्य से अमूर्त से असमयोग विभाग धर्म संयोजक आदि अनित्यत्व धर्मत्व संभवती पूर्व में कहा था अनित्य दृष्टि इनकी होती है अनित्याराम मूर्ताराम चक्षुरादीनाम दृष्टि आदि अनित्यम एवं संयोग वियोग नाम ऐसे बताया था जो चक्षुरादि अनित्य पदार्थ है और मूर्त है और संयोग वियोग धर्म है कभी विषय के साथ संबंध होगा कभी नहीं होगा कभी वियोग तो कभी संबंध कभी चक्षुरादि का विषयों के साथ संबंध होगा तो तब तक दृष्टि बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी संयोग वियोग धर्म का जो दृष्टि होती है अनित्य होता है दृष्टांत दिया था यथा अग्नि ज्वलम त्रिणादि कहा था जैसे अग्नि में जो ज्वलन क्रिया है वो अनित्य है त्रिणादि जन्य हो त्रिणादि का संबंध होने पर होता है ना तो नहीं होता है अनित्य इसी प्रकार बताया तो ऐसी दृष्टि यहां नहीं है कहा न तो नित्य से अमूर्त वो अनित्य दृष्टि तो इनकी थी अनित्य पदार्थ की थी अनित्य थे मूर्त थे किंतु उसे विपरीत है आत्मा आत्मा नित्य है ये जैसे अनित्य नहीं है और अमूर्त है आत्मा मूर्त नहीं अवयव वाला नहीं है और असमयोग विभाग धर्म मतलब वहां संयोग विभाग नहीं होता आत्मा का संयोग भी नहीं होता विभाग भी नहीं होता चक्षुरादि का तो संयोग होता विषय के साथ तो दृष्टि होती थी नहीं तो नहीं होता था तो ऐसा नहीं है असंयोग धर्म विवाह धर्म संयोग दृष्टि आदि अनित्यत्व धर्मत्व न समझे संयोगजन्य दृष्टि आदि जो अनित्य अनित्यत्व धर्म है वो आत्मा का नहीं हो सकता तथा श्रुति श्रुति ने ऐसे कहा है नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीत को विद्यते कहा दृष्टा की जो दृष्टि है आत्मा की जो दृष्टि है स्वरूप उसका लोप कभी नहीं होता ऐसे कहा इत्यादि इत्यादि और भी स्तुति ऐसी बोलती है कहा पूर्वादि शंका करते महाराज तब तो एवं तक ही द्वे दृष्टि चक्षुषो अनित्य दृष्टि नित्या ना तब तो दो दृष्टि माननी पड़ेगी फिर तो चक्षु की दृष्टि तो अनित्य है और आत्मा की दृष्टि नित्य है दो दृष्टि की कल्पना करनी पड़ेगी गौरव दोष आएगा एक ही दृष्टि मानने से काम चलता पूर्वादि की शंका है एवं तभी द्वे दृष्टि दो दृष्टि माननी पड़ेगी चक्षुषो अनित्य दृष्टि नित्या से आत्मा चक्षु की दृष्टि तो अनित्य और आत्मा की दृष्टि नित्य दो दृष्टि कल्पना करनी होगी उसके पूरा द्वेश्रुति तथा द्वेश्रुति श्रोत्र इंद्रिय भी दो होंगे एक तो श्रोत्र से सुना जाने वाला श्रुति है शब्द है और एक आत्मा से देखे जाने वाला सर्वेन्द्रिय जन्य ज्ञान का जो आकार बनेगा उसको जानने वाली दो श्रुति श्रोत्र से अनित्या अनित्य आत्मस्वरूप श्रुति भी तो होंगे स्त्रोत्र की श्रुति तो अनित्य और आत्मा की श्रुति नित्य इसी में मति भी ऐसे होगा तथा देह मति हाँ, मन की जो मति है अनित्य और आत्मा की मति नित्य इसी प्रकार विज्ञाति बुद्धि के जो विज्ञातृत्व है अनित्य और आत्मा के विज्ञातृत्व नित्य तो दो दो कल्पना करनी पड़ेगी गौरव दोष होगा नित्य अनित्य दो दृष्टि मानने पर चक्षुराज जन्य दृष्टि अनित्य और वो दृष्टि के दृष्टा नित्य ऐसा मानने पर गौरव दोष होगा इसलिए एक ही दृष्टि मानना सही होगा पूर्वादि की शंका है तथा गति विज्ञाति बाह्य बाह्य कहा बाह्य और अबाह्य दो दो रहेगा ना एक बाह्य दृष्टि आदि है एक अबाह्य दृष्टि आदि एक आत्मदृष्टि और एक बाह्य दृष्टि दोनों मानना पड़ेगा सिद्धांत करते कहते हैं एवं ही एवं ऐसा ही है दो ही दृष्टि है नित्य और अनित्य दो दृष्टि है फल हाँ, वाली जो गौरव है उसको दोष नहीं माना जाता निष्फल कल्पना करनी हो तो गौरव दोष लगता है फलशाली जो होगा गौरव होने पर भी दोष नहीं होता है फलमुख ने गौरव से न दोषात ऐसा कहा है फल फलशाली जो गौरव होगा दोष नहीं होता ये बोल रहा है एवं ही एवं तथा से एवं श्रुति एवं ही ठीक ऐसे दो ही दृष्टि है नित्य दृष्टि और अनित्य दृष्टि चक्षुरादि जन्य जो ज्ञान होगा वो तो अनित्य है और उस ज्ञान का जो ज्ञान होगा चक्षुरादि जन्य ज्ञान का जो ज्ञान आत्मा का होगा वो नित्य है वो ज्ञान स्वरूप होगा दो ही दृष्टि है दो श्रुति सब दो दो नित्य और अनित्य भेद है तथा च इम श्रुति तथा इसलिए इम श्रुति और ना भवती ये श्रुति भी सिद्ध हो जाती है कौन श्रुति दृष्टेर दृष्टा दृष्टि का दृष्टा कहा है आपने दृष्टि को देखने वाला अंतकरण की वृत्ति को देखने वाला जानने वाला ऐसा कहा आत्मा को तो ये श्रुति भी चरितार्थ होगी दो दृष्टि मानने का श्रुते है श्रोता कहा श्रुति का भी श्रोता कहा है आत्मा को दृष्टेर दृष्टा श्रुतेर श्रोता मतेर मंता विज्ञाते विज्ञाता ऐसा कहा लोके भी कहते हैं ये तो शास्त्रीय बात है शास्त्र ने बोल दिया दृष्टेर दृष्टा आदि लोक में भी कहते हैं दो दृष्टि है लोक में भी होता है दो दृष्टि का प्रयोग होता है लोक में भी कैसे लोके भी लोक व्यवहार में भी देखो दो दृष्टि होती है एक नित्य दृष्टि एक अनित्य दृष्टि दो दृष्टि है लोक व्यवहार में लोके भी प्रसिद्धम चक्षुष तिमिर आगम अपायोर नष्टा दृष्टि जाता दृष्टि थी चक्षु दृष्टि अधिक चक्षु संबंधी दृष्टि को अधिक कहा क्यों चक्षु में एक रोग लग जाता है तिमिर रोग तो उसके आगम हो गया तिमिर के होने पर क्या होगा दृष्टि नष्ट हो जाती है रोग आने पर दृष्टि बंद हो गई और रोग आटने पर दृष्टि आ जाती है तो जो पैदा हो रही है नष्ट हो रही है अनित दृष्टि है वो अनित है एक आलोक है लोक में प्रसिद्ध है चक्षुष जो चक्षु इंद्रिय में तिमेरा आगम अपाय तिमिर रोग के आना और अपाय माने जाना ये दोनों के कारण से नष्टा दृष्टि तिमिर रोग आने पर नष्ट दृष्टि वाला हो गया दृष्टि नष्ट हो गई और उसका अपाय नाश होने पर दवाई दारू किया तो रोग हट गया हटने पर क्या होगा जाता दृष्टि दृष्टि पैदा हो गई ऐसा प्रयोग होता है वो जो नाश होने वाला पैदा होने वाला नित्य दृष्टि नहीं है चक्षु दृष्टि या आग संबंधी चक्षु संबंधी दृष्टि अनित्य है यदि चक्षुर दृष्टि अनित्यत्व चक्षु संबंधी दृष्टि अनित्य है ये देखा है तथा तो उसी प्रकार श्रुति आदि में कान में कोई रोग आ गया तो बहरा हो गया और रोग हटने पर फिर सुनने लगा तो आगम और अपाय होने वाली जो श्रुति हो अनित श्रुति है वो रोग आदि के कारण ऐसा होता है श्रवण श्रुति आदित्य है मति भी ऐसे मन में कि बेहोशी पना में जानता नहीं बाद में जान लेता है वैसे हो जाता है तथा श्रुति मत्यादि नाम किंतु आत्मदृष्ट आत्मा दृष्टियादि नाम से नित्यत्म और आत्मदृष्टि नित्य है लोक में भी है लोक में देखा है चक्षुरा दृष्टि अनित्य है किंतु रोग आदि के आने पर नष्ट हो जाती है रोग हटने पर फिर आ जाती है दृष्टि यह अनित्य दृष्टि है किंतु आत्मदृष्टि नित्य है लोक में लोक व्यवहार में भी नित्य है कैसे है आत्मदृष्टि आदि नाम जो आत्मा की दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति है वो नित्य है प्रसिद्धम एवं है बदती ही उद्धृत चक्षु कहते हैं जिसके आंख निकल गया ऐसा व्यक्ति अंधा आदमी है आंख नहीं है उद्रिता उद्रितम चक्षु यश्य जिसके आंख निकल गया ऐसा व्यक्ति है किंतु स्वप्न अद्यमया भाता दृष्टा शब्द आज स्वप्न में मैंने भाई को देखा बोलता है आंख नहीं है उद्धृत चक्षु है आंख बिल्कुल नहीं है किंतु वो कौन सी दृष्टि से देखा उस भाई को चक्षु दृष्टि तो है नहीं उसके पास वो आत्मदृष्टि है देखा जो देखा है वो आत्मदृष्टि है ये कहा ये नित्य दृष्टि है वो में भी देखा है कहा आत्मदृष्टि आदि नाम से नित्यत्व प्रसिद्धम ये प्रसिद्ध है लोक में ऐसा है वह लोके प्रसिद्ध है बदती लोग बोलते हैं ऐसा लोक में बदत ही उद्धृत चक्षु हो जिसके आंख निकल गई आंख नहीं जिसके पास अंधा व्यक्ति बिल्कुल ऐसे व्यक्ति है बोलता है स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्टा अद्य स्वप्ने मया भ्राता दृष्टा आज स्वप्न में मैंने भाई को देखा आंख नहीं है तो कौन सी दृष्टि से देखा उसने कौन सा चक्षु से देखा है वहां आत्मचक्ष है आत्मदृष्टि वो नित्य दृष्टि है आग नौन पर भी जो देखता है वो नित्य दृष्टि है आत्मदृष्टि है तथा अवगत बाधिरिया जिसके बाधिरिया निश्चय हो गया ये बहरा है ये व्यक्ति निश्चय हो चुका है हाँ वो भी बोलता है स्वप्न में मैंने मंत्र सुना बोलता है जागृत मंत्र सुन नहीं सकता मतलब बहरा है किंतु यही बोलता है कि तथा अवगत बाधीरिया उसी प्रकार जो जिनके बाधिर्य निश्चय हो गया बहिरापना निश्चय हो गया कि बहिरा है ऐसा पता लग गया ऐसा व्यक्ति भी स्वप्ने श्रुतो मंत्र क्या अद्य आज मैंने स्वप्न में मंत्र सुना ऐसा होता है तो किससे सुना उसने कौन से श्रोतेन्द्र काम नहीं कर रहे उसके बहिरा है किंतु तो जो मंत्र सुनने वाला श्रुति कौन है आत्मश्रुति आत्मा से सुना है उसने उसका ऐसा इत्यादि कहा टीका से देखें अच्छा तो पूर्वादि का आधार मानो यदि अनित्यम दृष्टि आदि अभिगम्य था जैसे चक्षुरादि दृष्टि को आपने अनित्य दृष्टि मान लिया तभी तदेव आत्मलोपी धर्म वस्तु वही आत्मदृष्टि भी वही वो एक ही दृष्टि होता है दोनों दृष्टि कल्पना करने में गौरव दोष आएगा वस्तु क्यों नित्य दृष्टि आदि ना नित्य दृष्टि की कल्पना से क्या लेना है आत्मदृष्टि को नित्य मान रहे आप चक्षुरादि दृष्टि को अनित्य मानते हैं क्यों कल्पना करना कहा नतु तो इत्यादि कहा था भाष्य में ठीक है नित्यत्वाद अमृतत्व अमृतत्वाद संयोगाद धर्म रहत्व तथा संयोग दृष्टियादि असंभव है आत्मा नित्य दृष्टि दृष्टियादि अभ्युपलंतव्य आत्मा में देखो नित्य दृष्टि नित्य स्मृति नित्य मति ये मानना पड़ेगा क्यों मानना पड़ता है आत्मा नित्य है नित्यत्वाद अमूर्तत्व आत्मा अमूर्त पदार्थ है अवयव रहित है मूर्त होता है अवयव सहित अमूर्तत्व का अर्थ कर दिया है दो नंबर में निर्वयत्व अवयव रहित है आत्मा अवयव वाले के ही दृष्टि अनित्य होती है चक्षुराधि अवयव वाले हैं तो यही है कि नित्यत्वाद आत्मा नित्य होने से अमृतत्व अवयव रहित है और अमृतत्वाद संयोगाद जिसका अवयव नहीं है संयोग वियोग होगा नहीं उसका अवयव होना तो एक देश से संबंध होगा यहाँ चक्षुरादि का संबंध होता है अवयव वाले हैं अवयव रहित है आत्मा में इसलिए अमूर्त होने से संयोग विभाग हो नहीं सकता आत्मा में जब संयोग विभाग हो नहीं पाया तो अनित्य दृष्टि पैदा नहीं हो सकती तथा संयोग का दृष्टि आदि असम फिर संयोग विभाग जन्य जो दृष्टि थी संयोग होने पर दृष्टि का नाश होना विभाग होने पर दृष्टि आना इत्यादि जो कहा था वो संभव नहीं आत्मा में वो अमूर्त पदार्थ है संयोग विभाग रहित है इसलिए संयोग जन्य विभाग जन्य जो दृष्टि आदि है असंभव है नित्यता आत्मनो नित्य दृष्टि आदि अभिगत इसलिए आत्मा में नित्य दृष्टि नित्य स्मृति नित्य भक्ति नित्य विज्ञात्री स्वीकार करना चाहिए श्रुति तो भी नित्य दृष्टि आदि सिद्धि इतना ये तो एक युक्ति से बताइए बात श्रुति से भी सिद्ध है ये आत्मा नित्य दृष्टि वाला है नित्य दर्शन होता है आत्मा का आत्मा के लिए किसी चक्ष आदि आत्मा को देखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है क्यों जिसके आंख निकल गया वो व्यक्ति रात में भाई को देखता है ऐसा बोलता है आज स्वप्न में मैंने भाई को देखा बोलता है आत्मदृष्टि है श्रुति से भी सिद्ध है आत्मदृष्टि देखते हैं श्रुति को भी नित्य दृष्टि आदि सिद्धि है आत्मा में नित्य दृष्टि नित्य श्रुति सिद्ध है कैसा है तथा कहा तथाच श्रुति नई द्रष्टुर दृष्टिर विपिन को देगा दृष्टा की जो दृष्टि है चक्षुरादि की दृष्टि तो अनित्य दृष्टि है किंतु दृष्टा की जो दृष्टि दृष्टा आत्मा उसकी जो दृष्टि है वो नित्य है उसका लोप नहीं होता कभी अभाव नहीं होता ऐसा वृद्धारण स्मृति में कहा ये बताया अच्छा आगे कहते हैं नित्य नित्य अनित्य दृष्टि द्वय अंगीकार है गौरव संग्रह पूर्वादि बोलता है दो दो दृष्टि स्वीकार करने में गौरव दोष आएगा एक ही दृष्टि से काम चलता है चक्षुरादि दृष्टि दृष्टि आत्मा दृष्टि कोई दृष्टि नहीं है एक ही है उनके मत में दृष्टि एक ही है यही शंका है ननो नित्य अनित्य दृष्टि अंगीकार दृष्टि द्वय अंगीकार है गौरव नित्य दृष्टि और अनित्य दो दृष्टि स्वीकार करने पर गौरव दोष होगा ये शंका पूर्वादि करता है एवं तरही वे दृष्टि फिर तो दो दृष्टि की कल्पना करनी पड़ेगी एक नित्य दृष्टि एक अनित्य दृष्टि राज्य दृष्टि को अनित्य आत्मा दृष्टि को नित्य माननी चक्षुषो अनित्य दृष्टि नित्या चक्षु की दृष्टि तो अनित्य है संयोग का विभाग जन तीव्र रोग अनुभव नहीं होता है और तीव्र रोग अनुभव होता है अनित्य दृष्टि और आत्मा का नित्य बताना आप और नित्याच आत्मा ना दृष्टि नित्य है तथा दिव्य श्रुति श्रुति भी दो होंगे श्रोत्र से तुम श्रोत्र का श्रवण अनित्य आत्मा का श्रवण नित्य नित्या नित्या अनित्या नित्या आत्मस्वरूप से तथा द्वे मती देव विज्ञाति द्वे विज्ञाति बाह्य बाह्य एक बाह्य और अभ्यंतर दो दृष्टि दो श्रुति दो मति दो विज्ञाति ऐसे मानना पड़ेगा ये दोष है गौरव दोष होगा पूर्वादि होता है गौरव है संरक्षण सिद्धांत कहते हैं श्रुति प्रामाण्यात द्वैविध्य अंगीकार है गौरवम प्रामाणिक विद्या श्रुति प्रमाण है दो दृष्टि में श्रुति बताती है दो दृष्टि होती है करके इसलिए द्वैविध्य स्वीकार करने में गौरव होने पर भी प्रामाणिक गौरव दिया जाता है प्रामाणिक है इसलिए कहा एवं ही एवं ठीक ऐसे ही दो दृष्टि है नित्य और अंत्य भेद है भाष्यकार ने बता दिया तथा चो अवधारण है तथा इत्यर्थ तथा च में जो जो एवं ही एवं तथा च में च का अर्थ अवधारण अर्थ तथा वैसा ही है च का अर्थ एवं तथा तथा एवं श्रुति रूप होना बहुत ये श्रुति कभी तो होगी दो दृष्टि होने पर दृष्टेर दृष्टा श्रुते श्रोता ऐसा का दृष्टि का दृष्टा बोला है चक्षु को तो दृष्टि होगी उस दृष्टि का दृष्टा आत्मा को कहा है हाँ, श्रवण इंद्रिय ज्ञान होगा श्रुति और श्रुति का भी श्रोता बोला हुआ आत्मा को तभी नित्य और दृष्टि सिद्ध हो जाते हैं कहा ठीक है दृष्टि विषय का दृष्टिमान इत्यर्थ दृष्टेर दृष्टा का क्या अर्थ है दृष्टि को विषय करने वाले दृष्टि वाला है जो दृष्टि को चक्षुरादि जन्य जो ज्ञान है उसके भी जानने वाला दृष्टि विषय का दृष्टिमान है कहा दृष्टि विषय का दृष्टि है विषय जिस दृष्टि का आत्मदृष्टि का विषय चक्षु दृष्टि है दृष्टि विषय का दृष्टिमान इसी तदर्थ है दृष्टि दृष्टा स्थिति का यह अर्थ होता है तत्र विषय विषयी भाव से एकस्मिन असमभाग और दृष्टि का दृष्टा बोला हुआ है वहां पर विषय और विषयी भाव दोनों एक में होगा नहीं जानने वाला भी वही और जानने का विषय भी वही ये हो नहीं सकेगा तथा विषय विषय विषय भाव से एक रसवाद विषय और विषय दोनों एक में न होने से प्रतीय थे ये दृष्टि दृष्टा में जो तो आत्मदृष्टि को से दूसरी दृष्टि को जानना है उसने तो विषय विषय भाव एक नहीं होता ज्ञान और विषय एक नहीं होता है विषय करने वाला ज्ञान और विषय एक न होने से इसलिए क्या कहते हैं दृष्टि द्वयम प्रत्येक दो दृष्टि प्रतीत होता है दृष्टेर दृष्टा कहने में दो दृष्टि की प्रतीति होती है दो दृष्टि है ऐसा लगता है यदि दृष्टि द्वैविध्य सती एवं यम श्रुति उपपद्य थे नान्यथा दो दृष्टि होने पर भी ये जो दृष्टि दृष्टा श्रुति श्रोता श्रुति चरितार्थ होगी अन्य प्रकार से नहीं हो सकती लोके भी प्रसिद्धम करके भाष्यकार ने कहा दो दृष्टि शास्त्र में तो प्रसिद्ध है दृष्टि द्रष्टा श्रुते श्रोता किंतु लोक में भी दो दृष्टि प्रसिद्धि है भाषिका बता हाँ, जो बोलते हैं एक ही दृष्टि मानने वाले व्यवहार में दो दृष्टि उनकी भी होती है ऐसा है लोक में प्रसिद्ध है कैसे है तो टीका भी दिखाते हैं तिमिर रोग से आगमे नष्टा दृष्टि तिमिर रोग आ गया आंख में जो रोग है हाँ, जिससे क्या हो गया दृष्टि नष्ट हो गया देखना बंद हो गया तिमिर रोग से आगमे नष्टा दृष्टि तिमिर रोग के आने पर दृष्टि नष्ट हो गया अपाय दवाई दारू करने पर रोग हटने पर फिर जाता दृष्टि ऐसा बोलते हैं दृष्टि पैदा हो गई ऐसा बोलते हैं तो जो नाश होने वाली पैदा होने वाली दृष्टि अनित्य दृष्टि है ये नित्य नहीं है अनित्य दृष्टि होती है जाता दृष्टि तो प्रतीतेर ऐसा प्रतीत होने से जन्मनाश योगिनी अनित्य दृष्टि देता एक तो है जन्म और नाश के संबंध करने वाली जो दृष्टि है चक्षु की दृष्टि कभी नाश है कभी है कभी दृष्टि है कभी नहीं है ये एक अनित्य दृष्टि है तदीय जन्मनाश साक्षी भूता मेरी आंख बंद हो गई मतलब मेरी आंख देख रही है कि जो चक्षु के जन्म और नाश का साक्षी भूता जो दृष्टि है जानने वाली दृष्टि है वो दृष्टि नित्य है अंधा आदमी बोलता है मेरी आंख काम नहीं करती है दवाई दारू करके ठीक होगा हाँ मेरा मेरी आंख देख रही है उस आंख के जो साक्षी है जो नाश होने वाली और मन, पैदा होने वाली चक्षु की साक्षी है जो था तदीय वो जो चक्षु संबंधी दृष्टि का जन्मनाश साक्षी भूता चक्षु दृष्टि का विनाश तिमिर रोग आने पर नाश और तिमिर रोग जाने पर उसके जन्म होना है उसके साक्षी भूता जो द्वितीय दृष्टि है दूसरी दृष्टि है जिसको देख रही है चक्षु नष्ट हो गई ये भी देखा जिसने और चक्षु आ गई जिसको ज्ञान है वो तो दृष्टि जो है द्वितीय दृष्टि अस्थि है दूसरी दृष्टि है लोक में ठीक है लोक भी प्रतीयत लोक में भी ऐसे दो दृष्टि प्रतीत होती है नित्य दृष्टि प्रतीत होती है कहा लोके भी करके भाषा में कहा लोके भी प्रसिद्धम प्रसिद्ध है लोक में भी दो दृष्टि है चक्षुष तिमिर आगम अपायोर नष्टा दृष्टि जाता दृष्टि की चक्षु दृष्टि अनित्यत्व कहा चक्षु में रोग आ गया तिमिर रोग तो नष्टा दृष्टि बोल देते हैं और तिमिर के हट जाने पर जाता दृष्टि बोलते हैं तो अनित्य दृष्टि है वो आगमापाई दृष्टि अनित्य दृष्टि चक्षु की दृष्टि अनित्य दृष्टि है ठीक है दृष्टेर इति उपलक्षण चक्षुर दृष्टेर अनित्यत्व जो कहा है भाष्य में वो उपलक्षण है तो चक्षु दृष्टि अनित्य होगी तो क्या होगा उसमें लगाना चक्षु दृष्टेर इति उपलक्षण आत्मदृष्टेर नित्यत्व से प्रसिद्ध चक्षु दृष्टि अनित्य है प्रसिद्ध है लोक में और आत्मदृष्टि प्रसिद्ध है नित्य है ये प्रसिद्ध है आत्मदृष्टि नित्यत्व तो प्रसिद्धम आत्मदृष्टि में नित्यत्व भी प्रसिद्ध है ये भी देखना चाहिए कहा तथा इसी भाष्य में कहा तथा श्रुति मध्य आदि नाम श्रुति मध्य आदि में भी दो दृष्टि है आत्मा आत्मदृष्टि आदि नाम तो नित्यत्व इनमें पहले वाले अनित्य हैं चक्षुरादि की दृष्टि अनित्य और आत्मा दृष्टि आदि नित्य है प्रसिद्ध में लोके भवती बदती था लोक में कैसा प्रसिद्ध है ऐसा ठीक हम जाते हैं अनित्यत्व नित्यम च प्रसिद्धम इति अनुसंधान अनित्य दृष्टि नित्य दृष्टि दो दृष्टि प्रसिद्ध है लोक में लोक में शास्त्र में तो प्रसिद्ध है किंतु नई दृष्टि दृष्टि दृष्टा आदि कहा और द्रष्टु दृष्टि विभिन्न को विद्यति इत्यादि बोला दृष्टा की दृष्टि का नाश नहीं होता चक्षुरादि दृष्टि का नाश हो जाता है दृष्टा की जो दृष्टि साक्षीभूत है दृष्टि उसका नाश होने का कहा लोक में ही प्रसिद्ध है लोके भी कहा इसी बात को टीका भी कहते हैं चक्षुर दृष्टि हो गए आगे तथा अनित्यत्व नित्यम तद प्रसिद्धम इतिहावसता दो दृष्टि है अनित्य दृष्टि और नित्य दृष्टि प्रसिद्ध है लोक में आत्मदृष्टि आदि नाम नित्यत्व हेतु आत्मदृष्टि आदि नित्य है इसमें अन्य कारण बताते हैं आत्मदृष्टि आदि नाम चलित तत्व प्रसिद्धम लोग ये भी प्रसिद्ध है लोग में कैसे है वो दिखाते हैं क्या बोलते हैं लोग में उद्धृत चक्षु जिसके आंख निकल गई आंख नहीं है जिस व्यक्ति की वो व्यक्ति स्वप्न अद्य मया भ्राता दृष्टा ऐसा बोलता आज स्वप्न में मैंने भाई को देखा आंख है ही नहीं तो वो देखने वाली जो दृष्टि होगी आत्मदृष्टि है वो देखते हैं चक्षु न होने पर भी दिख रहा उसे तथा अवगतवादी भी है जिसके ही भी निश्चय हो गया बहिरा है ये व्यक्ति पक्का निश्चय हो गया है वो भी कहता है आज मैंने स्वप्न में मंत्र सुना तो वो किससे सुना आत्मा से सुना वो नित्य है ठीक है एक स्वप्ने चक्षुषो अभावे भी दृष्टि सत्वा स्वप्न अवस्था में आंख नहीं है उस अंधे व्यक्ति का फिर भी दृष्टि है नशा चक्षुर्जन्य वो भी दृष्टि चक्षुजन्य दृष्टि नहीं है क्यों आंख नहीं है और देख रहा है वो तो माने वो दृष्टि चक्षुजन्य न चक्षुजन्य नहीं है कि नित्य ही वही अर्थ स्वप्न की दृष्टि नित्य दृष्टि है अच्छा कोई बोले कि चक्षु स्वप्न भी अनुप्रतम बाकी इंद्रिया सो जाते हैं चक्षु तो काम करती है स्वप्न में इसलिए वही यही आंख से देखता है स्वप्न में दूसरी आंख में यही आंख है बाकी तो इंद्रिया सो जाती है चक्षु सोती नहीं है ऐसी शंका कोई करे इसलिए उसे देखा उसने स्वप्न देखता है कोई शंका करे तो कहते हैं चक्षु स्वप्ने भी अनुप्रतम चक्षु तो स्वप्न में भी काम करती है यदि यदि कश्चित बुनियाद ऐसा कोई शब्द कोई बोले बाकी तो इंद्रिया सो जाती है चक्षु काम करते उसी से स्वप्न देखता है ऐसा बोले तम प्रति प्रत्युत्तम तम प्रत्युत्तम उसका खंडित हो जाता है उद्धृत चक्षु का उसके लिए कहा जिसकी आंख निकल गई हो हाँ, तो वो भी तो देखता है इसलिए उद्धृत चक्षु भाष्यकार ने कहा जिसके आंख नहीं है तस्य चक्षु सब तो शंका ही बनाती उसके तो चक्षु को होने की शंका ही नहीं है जागृत में भी नहीं तो स्वप्न में कहां से चक्षु जाएगी इसलिए ऐसा व्यक्ति भी स्वप्न में आज मैंने भाई को देखा ऐसा बोलता है तो आत्म आत्मचक्षु आत्मदृष्टि है बोलता है इसी प्रकार अवगतवाद वीर्य का जिसका निश्चय हो गया ये बहिरा है व्यक्ति वो भी बोलता है आज मैंने मंत्र सुना बोलता है अवगतम मान निश्चितम बावीर्यम ऐसे बहुबरी समास है निश्चय हो गया बहिरापना जिसका वो व्यक्ति भी बोलता है आज मैंने मंत्र सुना तो किस कौन से स्रोत्र से सुना उसने ये स्रोत्र तो बहुत बहिरा है आत्मरूपी स्रोत सच तो स्वप्न दृष्टि आदेश चक्षुरादि अजन्यवाद कथम आदि दृष्टि स्मृत्यादि शब्दवाच्यत्व वाच्य कहते हैं पूर्वादि शंका करता है महाराज स्वप्न की जो दृष्टि है चक्षुजन्य है ही नहीं आता है वहां स्वप्न चक्षुरादि दृष्टि नहीं वो कैसे उसमें दृष्टि शब्द स्मृति शब्द का प्रयोग कर देते हैं ये शंका है न तो स्वप्न दृष्टि आदेश स्वप्न की जो दृष्टि है स्मृति है मति है विज्ञाति है सभी है चक्षुरादि अजन्य चक्षुरादि जन्य नहीं है वो दृष्टि तो चक्षु और विषय का संबंध होता ही नहीं वहां चक्षुरादि तो जैसे चक्षु का रूप के साथ संबंध होगा ये जन्य जागृतकालीन दृष्टि होगी वो चक्षु दृष्टि स्वप्न दृष्टि में चक्षु भी नहीं आई चक्षु का संबंध ही नहीं इसलिए उसको दृष्टि शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया ये बोलना चाहते हैं न तो स्वप्न दृष्टिया चक्षुरादि अजन्य चक्षुरादि जन्य नहीं है स्वप्न की दृष्टि आदि कथम दृष्टि श्रुति आदि शब्दवाच्य तम फिर उसको दृष्टि श्रुति शब्द कैसे प्रयोग कर दिया गया ये शंका आ गई तो सिद्धांत का नवाच्य ऐसा नहीं कहा ना प्रयोग होता है कैसे रूपादि विषय का अपरोक्ष ज्ञान से दृष्टि दृष्टियादि सर्ववाच्यता रूपादि को विषय करने वाला जो अपरोक्ष ज्ञान होगा उसी को दृष्टि शब्द से श्रुति शब्द से कहा है स्वप्न में भी रूपादि विषय का अपरोक्ष ज्ञान होता है जैसे जागृत में होता है स्वप्न में भी हो रहा है आंख न पर भी हो रहा है वहां पर दृष्टि शब्द का अर्थ रूप विषय अपरोक्ष ज्ञान श्रुति शब्द का अर्थ शब्द विषय अपरोक्ष ज्ञान ये इसको यहां दृष्टि श्रुति शब्द से कहा है तस्य रूपादि विषय का अपरोक्ष ज्ञान से दृष्टियादि शब्दवाच्य का विधान रूपादि को विषय करने वाला जो अपरोक्ष ज्ञान है उसी को दृष्टि शब्द श्रुति शब्द मति शब्द विज्ञान शब्द से कहा गया है वो है स्वप्न में भी रूप को विषय करने वाला ज्ञान हो रहा है जैसे जागृत होता है वैसे वहां भी होता है इसलिए उसको दृष्टि शब्द में प्रयोग कर दिया कहा उत्तम अर्थम विपर्य बाधक हो क्या तोड़ेगी ये जो कहा गया अर्थ है विपरीत मानने पर बाधक होगा अगर आत्म दृष्टि को अनित्य मानने पर बाधक आएगा ये बोलना चाहते हैं अच्छा यदि चक्षु संयोग आत्मा को अनित्य दृष्टि यदि आत्मा दृष्टि भी अनित्य दृष्टि हो चक्षु संयोग से ही पैदा होने की दृष्टि को आत्मदृष्टि माना जाए अनित्य दृष्टि यदि चक्षु संयोग जाए वह आत्मा अनित्य दृष्टि चक्षु संयोग जंग ही हो हाँ, दृष्टि आत्मदृष्टि अनित्य दृष्टि हो स्थिति में तन नाश है नश्य फिर तो उस स्थिति में क्या होगा चक्षु के नाश होने पर वो दृष्टि भी नाश होना चाहिए फिर जिसके आंख नहीं है उसको स्वप्न में नहीं दिखना चाहिए दिखता है ये कहना चाहते हैं क्यों तदा उदृत चक्षु स्वप्ने नीलपितादि न पश्य जब अनित्य दृष्टि हो आत्मा की दृष्टि चक्षु के नाश होने पर नष्ट हो जाना है उस स्थिति में जिसके आंख निकल गए नष्ट हो गई आंख जिसका तो उस व्यक्ति को स्वप्ने पितादी न पश्य वो व्यक्ति जिसका आंख निकल गई ऐसा व्यक्ति स्वप्न में नील पितादी आकार उसको नहीं देखना चाहिए किंतु देखता है उसको भी आत्मदृष्टि से दिखता है वो नित्य दृष्टि है नील पितादी नहीं दिखना चाहिए देखता उसको नहीं द्रष्टुर दृष्टि इत्यादि दूसरी बात नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीत को विद्युत ये भी क्या अयुक्त हो जाएगी अगर अनित्य दृष्टि मानेंगे तो चक्षुरादि इंद्रिय जन दृष्टि आपको दृष्टि हो तो ये श्रुति भी नहीं कर पाएगी कहा और कहा है तत्चक्षु चक्षु तो वही है ये ये चक्षु नहीं है चक्षु वह है तत्चक्षु वह चक्षु है पुरुषे के न स्वप्ने पश्यति पुरुष में आप स्वयं में अथवा अन्य में जिस दृष्टि से देखता है अथवा पुरुषो होगा पाठ पुरुषो होगा पुरुष ये न स्वप्ने पश्य पुरुष या व्यक्ति जिससे स्वप्न में देखता है वही दृष्टि है वही चक्षु है ये चक्षु नहीं है मुख्य चक्षु वही है जो अंधा आदमी भी स्वप्न में देखता है बहरा आदमी भी स्वप्न में सुनता है वही आंख है वही कान है मुख्य चक्षुषा चक्षु श्रोत्र से श्रोत्रम परिषद में कहा वो तत्चक्षु पुरुषो एवं स्वप्ने पश्यति कहा वही चक्षु है ये जो मनुष्य जिससे स्वप्न में देखता है वो आंख है ये जागृत में देखने वाला है आंख नहीं है ये तो अनित्य आंख है संयोग वियोग भी है ये इत्याद्या श्रुति ऐसी श्रुति भी है ये कहा ठीक है दर्शन हेतु चक्षुषो अभावाद इत्यर्थ हाँ, हाँ, ये कहा यदि चक्षु संयोग जाए वो आत्मा अनित्या दृष्टि तन्ना से नश्य इसी का अर्थ है क्योंकि अगर चक्षु संयोग जन्य आत्मा का अनित्य दृष्टि मानेंगे तो चक्षु नाश होने पर नाश होना चाहिए क्यों चक्षु का नाश हो गया तो दृष्टि भी नहीं रहनी चाहिए दर्शन हेतु चक्षुषो अभाव देखने का कारण नहीं रहा इसलिए वो भी दृष्टि भी नष्ट हो जानी चाहिए किंतु दृष्टि नष्ट नहीं होती है न तो एकदम दर्शनम स्मृति वाच्य पूर्वादि बोलेगा कि जिसके आंख निकल गई है ऐसे व्यक्ति का जो दर्शन होगा वो स्मरण है जो देखता है याद है देखना नहीं है अनुभव नहीं है स्मरण है स्मृति है वो इसलिए न वाच्य सिद्धांत कहते ऐसे बात ऐसा नहीं कहना तथा सती सन्निहित अप्रोक्ष अभाव समस्या यदि स्मरण हो तो सन्निहित नजदीक में होकर के प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए आवास नहीं होना चाहिए प्रत्यक्ष आवास हो रहा है अद्य मया अपनाता दृष्टा इत्यादि बोलता है स्वप्न बोलता है यदि स्मरण माना जाए उस स्वप्न के ज्ञान को तो दिन क्या होगा तथा सत्य सन्निहितत्व न समीप में होकर के अपरोक्ष अवभाष होना चाहिए अपरोक्ष रूप से भाषना नहीं चाहिए भाषना अपरोक्ष रूप से सन्निहित में भाष रहा है का न तो तदंश भ्रम जो सन्निहितत्व अंश और अवभाष अर्थ में भ्रम मानेंगे तो भ्रम है तो स्मृति है भ्रम मानेंगे उसको ऐसा माने तो सिद्धांत का मैंने हूं कहते हैं एक नंबर कहा तद अंश माने समीतत्व अंश अपरोक्षत अंश का ये दोनों अंश में भ्रम मानेंगे समीत तो दिख रहा है अपरोक्ष दिख रहा है वो भ्रम है वो किंतु वो है स्मृति है वो ऐसा माने तो सिद्धांत कहते हैं नवाच्य क्यों बाधक देखो बाधक नहीं मिलता यदि भ्रम ज्ञान हो तो भ्रम ज्ञान का बाधक होता है इस ज्ञान का बाधक नहीं कोई आता पड़ता बाधक अभाव और पूर्वम अनुभूत भ्रातरादि दर्शन तो न और दूसरी बात अगर स्मरण हो पूर्व दृष्ट का ही स्मरण होता है कभी कभी ऐसा पदार्थ दिखाई पड़ता है स्वप्न में पूर्व में अनुभूत नहीं था तो उसको क्या अनुभव कहेंगे कि स्मरण कहेंगे पूर्व दृष्ट होता तो स्मरण कह सकते थे याद तो उसी का होता पूर्व में जिसका अनुभव किया हो ऐसा होना चाहिए किंतु पूर्व दृष्ट नहीं ऐसे पदार्थ भी दिखाई पड़ता है भाई आदि जो पहले नहीं देखे थे ऐसे को भी देखता है हाँ, जागृत काल में जन्मांध व्यक्ति था भाई नहीं देखा उसने कभी जीवन में क्योंकि तो स्वप्न में देखता है तो उसको प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा अनुभव कहना पड़ेगा स्मरण करके काम नहीं चलेगा पूर्व दृष्टा है ये कहना चाहते हैं एक तो बाधका भाव आपको ज्ञान का बाध नहीं होता दूसरी बात पूर्वम अनुभूत आदि दर्शन तस्या पहले अनुभूत है पहले का कोई अनुभव में नहीं आया ऐसे जो भाई आदि का दर्शन भी नहीं होना चाहिए अगर स्मरण हो तो जो स्मरण जो होता है अनुभव पूर्वक स्मरण होता है अनुभव किया ही नहीं जिसका अनुभूत नहीं उसका भी वहां पर दर्शन हो जाता है इसके मतलब वो अप्रोक्ष ज्ञान अनुभव है स्वप्न का उसको जो आत्मज्ञान आत्मदृष्टि जो है अप्रोक्ष है दो नंबर के बाद का अभाव आता है तद उत्तरम बाधक अज्ञान तद उत्तरम ज्ञानाद अदर्शनाद इत्यर्थ कर ज्ञान अदर बाधक ज्ञान अदर्शनाद ऐसा है उसके पश्चात ब्रह्म ज्ञान के बाद है बाधक ज्ञान नहीं दिखाई पड़ रहा वहां यदि ब्रह्म ज्ञान मानेंगे तो उसके आगे बाधक ज्ञान आना चाहिए बाधक ज्ञान नहीं मिलता इसलिए कि उसको भ्रम नहीं कर सकते आगे कहते हैं इदम उपलक्षणम ये उपलक्षण है सुसुप स्वप्न में देखता है आंख निकला हुआ व्यक्ति भी देखता है तो उपलक्षण और भी दृष्टांत मिलता है उपलक्षण क्या है तो कहते हैं सुसुप्तोत्थित जो सो करके उठा हुआ व्यक्ति होता है सुसुप्ति से बाहर आया हुआ व्यक्ति जागृत में आया हुआ सुप्तोत्थित पहले सोया बाद में उठा है ऐसा व्यक्ति का सुखम हम अश्वापसम यदि परामर्श हेतु होता है सुसुप्तिकालीन अनुभव भी नित्यो ब्याह कहते हैं देखो सुख सो करके उठा हुआ व्यक्ति का एक अनुभव होता है सुखम अपम वस्वाक्षम मैं सुख पूर्वक सोया ऐसा बोलता है मुझे कोई परेशानी नहीं हुई आराम से सोया ऐसा बोलता है जो उसका है तो परामर्श हेतु होता है इसके जो ये तो स्मरण कर रहा हो उसका परामर्श का हेतु है सुसुप्तिकालीन अनुभव सुसुप्तिकाल में अनुभव किया था उसने तो अब याद कर रहा हूं मैं आराम से सोया उसका जागृत काल में आकर के जो स्मरण बता रहा है ये तो स्मरण है किंतु उस काल का अनुभव है उस काल में अनुभव करके आया था एक कहते हैं नित्य वो सुश्रुतिकालीन अनुभव है नित्य है सुश्रुति काल में जो अनुभव हुआ था वो नित्य है और जागृत काल में अभी होगा अनित्य हो जाएगा तदानिम करणानाम अभावे नाम अनित्यत्व अनुभव अभाव क्यों सुसुप्ति काल में इंद्रिय नहीं इंद्रिय जन्य जो ज्ञान होते हैं वो अनित्य होते हैं सुसुप्त काल में इंद्रिय नहीं है तदानी मैंने सुसुप्त अनुभव तो करके आया मैं सोया कौन सोया मैं सोया अनुभव बता रहा हूं और सुसुप्ति का सुखपूर्वक सोया बोलता है सुख का अनुभव बता रहा है जगने के बाद उस कालीन जो अनुभव है वो भी नित्य है सुसुप्ति कालीन अनुभव नित्य क्यों कहते हैं तदानी सुसुप्ति काल में सर्वकरणानम अभाव है कोई इंद्रिया नहीं है वहां इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं हुआ हो इंद्रिय जन्य ज्ञान होता तो उसको अनित्य ज्ञान मानते तदानी मैंने सुसुप्त सर्वकरणाम अभाव सभी करुणा का अभाव होने से अनित्यत्व अनुभव अभाव अनित्यत्व का अनुभव नहीं हो सकता उस ज्ञान को नित्य मानना पड़ेगा नित्य भी द्रष्टव्य ये भी नित्य है कहना चाहिए देखना चाहिए कहा न केवलम प्रत्यक्ष से अनुपत्ति श्रुति रपी अनुपन्ना से अगर आत्मदृष्टि को अनित्य मानने पर प्रत्यक्ष नहीं होना यही नहीं श्रुति भी अनुपन्न हो जाए श्रुति भी नहीं लगेगी ये नहीं न केवल प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष माने जागृतादि कालिक में तैयार जागृत कालिक के प्रत्यक्ष ही न हो पाए ये बात नहीं किंतु श्रुति रूपी अनुपन्ना अगर उसको अनित्य ज्ञान मानेगी तो श्रुति भी घटेगी नहीं कैसे ये कहते हैं नहीं द्रष्टुर इत्यादि का नहीं द्रष्टुर दृष्टेर इत्यादि श्रुति अनंतनाश्यात यदि अनित्य मानेंगे आत्मज्ञान आत्मदृष्टि को ये श्रुति घटेगी आगे कहते नहीं स्रोतु श्रुतेर विप्रलोभ विद्यते इत्यादि आद्याच इति आने में गृहते इत्याद्याच में जो आद्या शब्द से योजना है नहीं स्रोतु श्रुते विप्रलोभ विद्यते इत्यादि नहीं मंत्रोन्मते विप्रलोभ विद्यते विज्ञात विज्ञात विप्रलोभ विद्यते इत्यादि लेना है कहा आगे तत्चक्षुर में कहा हाँ, वास्तव में तो यही है तत्चक्षु चक्षु वही है कौन है पुरुषो ये न स्वप्ने पैसे पुरुष जिससे स्वप्न में देखता है ये कहा तो पुरुषे पाठ भी हो सकता है ये टीकाकार के अनुसार पुरुषे होना चाहिए पाठ ऐसा है चष्टे की चक्षु देखता है इसलिए चक्षु कहा जाता है चक्षु धातु से बनता है चष्टे की चक्षु देखता है इसलिए चक्षु कहा उस आत्मा को चक्षु कहा है तत्चक्षु वही चक्षु है चष्टे की चक्षु दृष्टा चक्षु का अर्थ द्रष्टा साक्षी माने इंद्रियादि वृत्ति के जो साक्षी है इंद्रियादि के जन जो ज्ञान होगा उसके साक्षी है उसको चक्षु कहा गया तत्चक्षु चष्टे की चक्षु माने द्रष्टा साक्षी चक्षु का अर्थ द्रष्टा है साक्षी है पुरुष आत्मनि शरीर अपने में देखता है अथवा शरीर में देखता है शरीर के एक स्वप्ने पश्यती अपने ही शरीर में देखता है अथवा अपने में देखता है या शरीर में देखता है दो में से कहीं एक जगह देखता है स्वप्न में जिससे देखता है वो चक्षु है तत्चक्षु साक्षी इत्याद्याच अनुपन्न तत्चक्षु साक्षी इत्याद्याच अनुपन्ना से ये भी अनुपन्न हो गया अगर अनित्य मानेंगे तो हाँ, आत्मदृष्टि को अनित्य मानने पर यह भी घटेगा ये भी असंगत होने लग जाएगा और कठोपनिषद में कहा है स्वप्नांतम जागृतांतम चोभो ये नुपश्यति महानतम विभुमात्मान मत्वाधीरो न सोचती स्पष्ट कहा है स्वप्न के बीच में जागृत के बीच में मानी ये संध्या कालीन में जागृत स्वप्न के मध्य अवस्था जागृत चला गया स्वप्न अभी आया नहीं जो संधि अवस्था है वहां पर कोई इंद्रियादि नहीं है अथवा स्वप्न की समाप्ति जागृत के आगमन की अवस्था संधि उस काल में जिससे जो देखता है वही आत्मा है स्वप्नांतम जागृतांतम च उभव एनानुपश्यति एनानुपश्यति लोका ये लोग जिससे देखता है उसको उस काल में कुछ भान होगा जागृत चला गया है जागृत वृत्ति समाप्त हो गई स्वप्न वृत्ति उदय होने की जो संधि काल है अथवा स्वप्न वृत्ति की समाप्ति और जागृत वृत्ति के उदय काल की जो संधि है इसमें जिससे देखता है वही आत्मा वही महान आत्मा हो माने पूर्व वृत्ति हट गई उत्तर वृत्ति जगी नहीं वो संधि अवस्था में जो देखता है वृत्ति सहित देखते समय तो इंद्रिय सहित हो जाता है तो वृत्ति के अभाव काल में जो देख रहा है वो आत्मा होता है ऐसा कहा कठोपचल स्वप्रांतम जागृतांतम से वो वेदान पश्य ये दोनों को जिससे देखता है लोक जिससे देखेगा ये लोक देखेगा मनुष्य आदि लोक जिससे देखता है महानतम विभु महात्मा वही महान विभु आत्मा है मत्वा धीरो न सोचती उसको जान करके शोक नहीं करता ऐसा कौटुक ने छत्र ने कहा है कहा यह आदि शब्द सुनिए आगे बताया आगे कहते हैं ठीक है ननु आत्मदृष्टे नित्यत्व कथम तत्र अनित्यत्व प्रतीति कथम व अश्य लोक से अनित्य अनित्य सर्वादि दृष्टि निश्चय निश्चय से आशंक्य ग्राह्य अनित्य दृष्टिगतम अनित्यत्वादि सर्व ग्राहिकायाम नित्य दृष्टो भाषते ग्राह्य अयपिंडगत वर्तुलत्वादि धर्माणाम ग्राहक अज्ञादो भाव दर्शनाथ अतो लोकस्य तथा प्रतिरित उपपद्य पूर्वाजी एक शंका करता है कि भाई आत्मदृष्टि नित्यत्व अगर आत्मदृष्टि नित्य हो जिसके आंख निकल गई स्वप्न में भी दिखता है जिसका कान बहरा है वो भी स्वप्न में सुनता है ऐसा आपने कहा वो नित्य है और इंद्रियादि जन्य दृष्टि आदि अनित्य है आपने बताया आत्मदृष्टि के नित्य हो कथम तत्र अनित्व प्रतीति फिर वो अनित्व की प्रतीति कैसे हो रही लोगों को नित्य नहीं मानते हैं अनित्य कैसे मान रहे नित्य हो तो एक प्रतीति ऐसी हो रही अनित्यत्व उस दृष्टि प्रथम बाश्य लोग से अनित्य अनित्य है व सर्वाधिक दृष्टि दूसरी बात सारे लोग को अनित्य दृष्टि क्यों हो रही है आत्मदृष्टि नित्य है तो सभी लोग अनित्य दृष्टि को ही क्यों दृष्टि मान रहे हैं प्रथम बा अश्य लोक से ये जो मनुष्य आदि लोग हैं इनका अनित्या एवं सर्वा सारी दृष्टि एक ही दृष्टि अनित्य दृष्टि मानते हैं क्यों मानते हैं और शास्त्रकारों को भी वहां पर अनित्यत्व तो प्रतीति कैसे होती है आत्मदृष्टि तो देते हैं तो ऐसी शंका है अनित दृष्टि लोकस्य अनित्या एवं सर्वा दृष्टि निश्चय सभी दृष्टि अनित्य ही है ऐसा निश्चय करके बैठे हैं लोग कैसे होता है यदि आत्मदृष्टि भित्ति है तो उसको पकड़ में क्यों नहीं आती शंका तो उत्तर देते हैं ग्राह्य अनित्य दृष्टि का तो देखो आत्मदृष्टि ग्राहक है ग्राहिका है और ये चक्षुरादि जन्म दृष्टि ग्राह्य है ये अनित्य होने से इसका धर्म वहां दिख रहा है ग्राहक में ग्राह्य का धर्म ग्राहक में दिखाई पड़ता है वास्ता है हाँ, कैसे यह दृष्टांत देंगे आप कि ग्राह्य अनित्य होने का कारण ग्राहक दृष्टि को भी अनित्य जैसा लग रहा है ये बोलना चाहते हैं ग्राह्य अनित्य दृष्टिगतम जो ग्राह्य दृष्टि है जन्य दृष्टि इसको ग्रहण करना आत्मा ने ग्राह्य दृष्टि में जो अनित्यत्व है अनित्यत्वादि ग्राह्य अनित्य दृष्टिगतम अनित्यत्वादि ग्राह्य जो अनित्य दृष्टि आया पाड़ा हुआ जो अनित्यत्वादि सर्वम सबके सब ग्राही का आयाम जो ग्राही का दृष्टि आत्मदृष्टि ग्रहण करने वाली दृष्टि उसमें नित्य दृष्टो भाषते हाँ। इनके जो अनित्यत्व आदि जो चक्षुरादि जन्य दृष्टि का अनित्यत्व आदि ग्राहिका दृष्टि जो आत्मदृष्टि है उसमें भाषित होता है कैसे होता है दिखाते हैं देखो ग्राह्य तो वर्तुलत्व आदि लोहा गोल था आग में डाल दिया गया ला, लाल हो गया लोहा लाल हो गया कहते अग्नि वर्तुला ऐसा बोलते हैं अग्नि गोल है ऐसा बोलते हैं उसका अर्थ अग्नि का आकार कोई गोल आदि नहीं होता वो ईंधन का आकार है वो लोहे का आकार है किंतु अग्नि में आरोप हो जाता है लोग ऐसा बोलते हैं वो ग्राह्यगत जो वर्तुलत्व है लोहागत है वो वह आरोप हो जाता है अग्नि वहां दिखाई पड़ रहा है अग्नि वर्तुला ऐसा बोलते ठीक है ये देखा है ग्राह्यगत जो धर्म है वो ग्राहक में भाषता है कैसा भाषता है तो कहते हैं यहां ऐसे हुआ है अनित्य दृष्टि चतुराय तो दृष्टि है उसके ग्राहक है आत्मदृष्टि या अनित्यत्व भी वहां बात रहा आत्मदृष्टि ऐसा बोलना चाहते इसलिए कहा ग्राह्य अयपिंड कहता है अयपिंड लोह के पिंड है ग्राह्य है वो ग्राह्य अयपिंड कहता वर्तुलत्व आदि जो बर्तुलत्व तो है तो लंबा बना हो जैसा रहा होगा लोहा जैसा रहा होगा गोल रहा लंबा रहा जैसा रहा बर्तुलत्व आदि धर्माणाम ग्राहक अग्नि उसका ग्राहक है अग्नि उसमें भाषण भाव दर्शना तो उसमें भाव होता है माने लोहा लंबा है तो अग्नि लंबी दिखाई पड़ती है वहां लोहा गोल हो तो अग्नि गोल दिखाई पड़ रहा है जैसे होता है अतो लोकस्य तथा प्रतीति इसलिए लोक में ऐसे प्रतीति हो जाती है दृष्टांत है इसलिए चक्षुरादि अनित्यत्व अनित्य दृष्टि में जो अनित्यत्व है वह आत्मदृष्टि में आरोप करके बोल देते हैं जैसे लोहे का धर्म अग्नि में आरोप करके बोलते हैं लोग ऐसा देखा है इसी प्रकार हो जाता है यह नित्य इत्यादि भाषण में कहा नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टि ग्राही का जो नित्य आत्मदृष्टि है जो बाह्य दृष्टि चक्षुरादि जन्य दृष्टि अनित्य दृष्टि के का है दृष्टि उसको ग्रहण करने वाली है जो अनित्य दृष्टि चक्षुरादि जन्य दृष्टि उसको ग्रहण करने वाली आत्मदृष्टि नित्य है का बाह्य दृष्टि से उपजन अपायादि अनित्यत्व धर्मत्व बाह्य दृष्टि कैसी है आपकी जो चक्षुरादि जन्य दृष्टि कभी प्राप्त होना है कभी नाश होना है उपजन अपाय धर्म है कभी इसकी उत्पत्ति है कभी अभाव है जैसे टीवी आदि रोग लग गया रोग लगभग नाश हो गया दृष्टि और टीवी आदि रोग घट गया तो दृष्टि आ गई ऐसा हो जाता है तो ये बाह्य दृष्टि ऐसी है उपजन अपाय आदि अनित्य धर्मत्व मान उत्पत्ति विनाश धर्म लगा हुआ है इसमें ये दृष्टि एक एक रस नहीं है उपजन अपाय धर्म है मान उत्पत्ति विनाश धर्म से युक्त है है इसलिए अनित्य है धर्मत्वाद तद ग्राहिका आया और इस दृष्टि का जो ग्राहिका है आत्मदृष्टि तद ग्राहिका आया आत्मदृष्टि तद अवभाषत्व इसके अनित्यत्व का आवास वहां हो रहा जैसे लोहे का धर्म अग्नि में आवास होता है इसी प्रकार जो अग्निग्राहक है वो इसी प्रकार यहां भी चक्षुरादि जो दृष्टि है इसके ग्राही का दृष्टि आत्मदृष्टि है तो इसका धर्म जो अनित्यत्व धर्म आत्मा में दिख रहा है आवास हो रहा है ठीक है आत्मदृश्य तदवा तदवत अवासत्म अनित्यत्वादि भ्रांति निमित्तम ये जो आदि दिखता है भ्रांति निमित्त है ये लोग कैसे ही दिखता वो भ्रांति निमित्त है अन्य के धर्म अन्य में आरोप कर देते हैं जैसे लोहे का धर्म गोलाई को अग्नि में आरोप करते हैं भ्रांति निमित्त है वो भ्रम है वो इसी प्रकार चक्षुरादि के धर्म जो अनित्व धर्म है आत्मा में आरोप कर देते हैं तो भ्रांति निमित्त है यथा जैसे भ्रांति निमित्त तो क्या होता है दिखाते हैं यथा भ्रमणादि धर्म पद अलातादि वस्तु विषय दृष्टि रूपी भ्रमती व तद्वत जैसे भ्रमणादि धर्म किसमें तो अलाप में होता है जलती हुई लकड़ी को अलाप बोलते हैं वो घूमना उसका काम है जलती हुई लकड़ी को घूमना है किंतु वो जो देख देख जिस दृष्टि से देखा जा रहा है वो दृष्टि को भी घूमते मालूम पड़ता है वो जो घूमना जो अनित्यत्व है वो धर्म दृष्टि में लगा देता है दृष्टि घूम रही है ऐसा बोल देते हैं दृष्टि ज्यो है त्यों कहां घूमेगी दृष्टि किंतु अलाद जो घूमता है जलती हुई लकड़ी को अलाद बोलते हैं तो वो जो भ्रमणादि क्रिया है वो क्रिया दृष्टि में आरोपित हो जाती है कहा जैसे यदा भ्रमणादि धर्मवत भ्रमणादि धर्म किसमें अलाद में है वो धर्म वाला है तो वो भ्रमणादि धर्म वाला है अला जलती हुई लकड़ी अला अलातादि वस्तु विषय जो दृष्टि उस उस वस्तु को विषय करने वाली जो दृष्टि होगी वो भी भ्रमती ही भ्रमण करती हुई लगती है वास्तव में दृष्टि क्या भ्रमण करेगी किंतु वो जो वस्तु को देखा वस्तु भ्रमण करने वाला है उसको देखने से यहां भी भ्रमण करती हुई मालूम पड़ता है ये भ्रम है इसी प्रकार ये भी चक्षुरादि दृष्टि अनित्य दृष्टि को ग्रहण करने के कारण से आत्मा में भ्रम कर हो जाता लोगों को भी ये अनित्य है तथा तो श्रुति श्रुति ने कहा है ध्यायती व नीलायती व ऐसा कहा है वास्तव में आत्मा चिंतन नहीं करता वो मन के धर्म मन के साथ तादाद करके मन के धर्म को उसका आरोप हो जाता है ध्यान करता जैसा बोला ध्यान करता नहीं बोला लेलायती व गच्छती व जाता हुआ सा लगता है जाने वाला मन आदि है शरीर आदि है क्रियाशील ये है किंतु उसके साथ तादाद में होने के कारण से आत्मा में आरोप होता है जाता हुआ सा लगता है वास्तव में आत्मा जाता नहीं है ऐसा इति तस्मात आत्मदृष्टि नित्यत्वात आत्मदृष्टि नित्य होने से न योगपद्यम अयोगपद्यम वास्ती पूर्वादि ने कहा था आत्मदृष्टि यदि नित्य हो तो एक साथ सारे ज्ञान होना चाहिए हमेशा ही ज्ञान है आपके पास दृष्टि हमेशा है सभी वस्तु का ज्ञान एक साथ होना चाहिए या किसी का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए एक का ज्ञान नहीं तो किसी का भी नहीं होना चाहिए किंतु ये सब बातें नहीं लगेगी क्यों तस्मात आत्मदृष्टि नित्यत्व आत्मदृष्टि नित्य होने से वहां योगपत्य भी नहीं बनता योगपत्य अनित्य में होता है इसमें योगपत्य अयोगपत्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये कहा ठीक है देखें ग्राह्य ग्राह्यवद मानत्व इत्यर्थ तद्व अवभाषमान ग्राह्यवद मानव ग्राह्य के समान ग्राह्य दृष्टि अनित्य होने से ग्राहक ग्राही का दृष्टि में भी वैसे भाष हो रहा है अनित्यत्व भाष होता है ग्राह्य धर्म से ग्राहक भानम दृष्टांत ने प्रश्न ग्राह्य में जो धर्म होगा वह ग्राहक में प्रतीत होता है इसलिए दृष्टांत दे करके बताते हैं ग्राह्य धर्म से ग्राह के वाहनम दृष्टान यथा भ्रमणादि बोला देखो जैसे भ्रमणादि होता है हाँ। यथा भ्रमणादि धर्मवत जो भ्रमणादि धर्म वाला कौन है अलात है वास्तव में चक्षु तो घूमती नहीं ना घूमने वाली अलात है वहां जलती हुई लकड़ी को अलात बोलते हैं भ्रमणादि क्रिया उसमें होगी हाँ। यथा भ्रमणादि धर्मवत अलातादि वस्तु जो अलातादि वस्तु हैं उसको विषय करने वाली जो दृष्टि है अलात आदि वस्तु को विषय करने वाली दृष्टि अभी भ्रमती भाई ये भी घूमती हुई सी लगता है लकड़ी घूम रही है वो जो तो घूमने वाली लकड़ी को विषय करने का कारण से ये भी घूमती हुई सी लगता है ये ग्राहिका है उसकी ग्राहिका है वो ग्राही है ये ग्राहिका है ये दृष्टांत दिया ठीक है आदि शब्द है ना गमनादि गृहते हाँ आदि शब्द से कोई चल रहा हो उसमें जब दृष्टि पड़ेगी तो दृष्टि भी चलती हुई लगती दौड़ता हो तो दृष्टि भी दौड़ती हुई लगती है व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति दौड़ता हुआ दिखे ये दृष्टि हमारी दौड़ती हुई लगती है गमनार्थ ऐसा लगता है किंतु तो वहां की क्रिया यहां आरोप हुआ है आदि शब्द ने गमनादि क्रिया थे द्वितीय ना धावत पक्ष आदि <clears throat> तो द्वितीय आदि में क्या लेना धावत पक्ष आदि को लेना पक्षी जब दौड़ रही उड़ रही हो हमारी दृष्टि भी उड़ती हुई लगती है उसके पीछे पीछे जा रही है ऐसा लगता है आदि शब्द दो बार है ऐसा कहा आगे कहते हैं ध्याय दीव का अर्थ करते हैं बुद्धिगतम ध्यानाधिकम ध्यानादि क्रिया चिंतन जो है बुद्धि में है बुद्धिगतम ध्यानाधिकम ग्राहक साक्षी भाषित है जो उसके जो ग्राहक है साक्षी वो ध्यानादि का ग्राहक साक्षी उसमें भाषित होता है ग्राह्य का धर्म ग्राहक में भाषित होता है इसलिए ध्यान करता है आत्मा ऐसा लगता है वास्तव में आत्मा ध्यान नहीं करता श्रुति ध्याय थी इव बोला इसलिए श्रुति इवकार लगा के बोला वास्तव में ध्याता नहीं आत्मा ऐसा बोला है अच्छा एवं च यद पूर्व आदिना युगवत अनेक ज्ञानोत्पत्ति प्रत्यक्ष विरुद्धा यदि उत्तम तत्परित इसके क्या होगा कि सब ये परिहित हो जाता है पूर्वादि ने कहा था नित्य दृष्टि आत्मा का मानने पर क्या होता है कि एक साथ सारा ज्ञान होना चाहिए क्या हो तो गया एवं से यद पूर्वकादि युगपत अनेक ज्ञानोत्पत्ति कहा था पूर्वादि ने पहले कहा था यदि आपका दृष्टि नित्य हो तो एक ही साथ अनेक ज्ञान होना चाहिए कहा था किंतु जैसे जैसे ग्राह्य होगा वैसे वैसे ग्राहक बनेगा एक साथ होना कोई वहां एक साथ नहीं हो रहा ग्राह्य में तो आत्मा में भी एक साथ नहीं होता यही कहना चाहते हैं एवं यद पूर्वादि ना युगपत अनेक ज्ञान उत्पत्ति प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रत्यक्ष विरुद्ध है एक साथ ज्ञान होता नहीं है जो कहा था सदिदुक्तम तत्परिहृतम वो खंडित हो गया क्यों जैसे ग्राह्य में दिख रहा है वैसे ग्राहक में भाष रहा है व्यवहार चल रहा है ग्राह्य में एक साथ ज्ञान नहीं होता तो ग्राहक में भी नहीं हो रहा है ये उत्तर है तस्मात इत्यादि कहा ठीक है तस्मात इत्य से अर्धमाह आत्मदृष्टि इत्यादि आत्मदृष्टि नित्यत्वाद न योगपद्यम अयोगपद्यम अस्थित कहा उसमें योगपद्य अयोगपद्यम कुछ भी नहीं है जैसे जैसे अनित्य दृष्टि में जैसे क्रिया हो रही वही क्रिया का आरोप करके लोग में व्यवहार हो रहा है अनेक निरूपित्वाद योगपद्य से योगपद्य के लिए अनेक व्यक्ति के द्वारा निरूपित होगा अनेक व्यक्ति हो तब योगपद्य आएगा अनेक निरूपत्वाद योगपद्य से तद अभाव रूपत्वाद आत्मा में अनेकत्व है नहीं अयोगपद्य तद अवरूपात्वा अयोगपद्य से उसका अभाव रूप होने से अयोगपद्य से एक श्याम दृष्टौ तद वह नाश एक दृष्टि में दोनों होना संभव नहीं है अनेक के द्वारा निरूपित होना भी नहीं है और उसका अभाव भी होना संभव नहीं कहा आगे ठीक है आत्मदृष्टि नित्यत्व कथम परीक्षा कुशला नाम का नाम सर्वस्व लोक से भ्रमस्याद इति आशंका एक शंका होगी महाराज आत्मदृष्टि यदि नित्य है सामान्य लोगों को तो अनित्य तो भाषा है चलो भ्रम के कारण माने बाह्य दृष्टि अनित्य दृष्टि में उसके विषय होने के कारण वहां भी अनित्यत्व तो दिख रहा है आपने दृष्टांत दिया भ्रम हो रहा है किंतु तो परीक्षक हैं विचारक लोग हैं आए के आदि बड़े कुशल लोग हैं उनको भ्रम कैसे होता है आत्मदृष्टि नित्य हो उनको तो नित्य दिखना चाहिए उनको अनित्य क्यों बात रहा है ये शंका है न आत्मदृष्टि नित्य थे आत्मदृष्टि के नित्य मानने पर प्रथम परीक्षा कुशलाना परीक्षण करने में कुशल है हर वस्तु के परीक्षण करके निष्कर्ष निकालने में कुशल है जो लोग ऐसा है नैयायिका नाम नैयायिक बड़े निपुण होते हैं परीक्षा कर सर्वस्व लोक से बाकी सारे लोग कथम भ्रमा भ्रम कैसे होगा नित्य है अपनिष्ठ फिर अनित्य तो भ्रम क्यों होता है सामान्य जनों की बात नहीं बड़े बड़े लोगों को अनित्य भाषण रहा आत्मदृष्टि तो भ्रम कैसे होता है शंका कर कहते हैं अरे बाबा कठोरपन पढ़ा है तुमने हाँ। न नरेण अवरेण प्रोक्ता ये सर्वज्ञ बहुधा चिंतवान ये बहुत प्रकार से चिंतवान आत्मा है अस्थि नास्ति से शुरू होता है पहले तो एक दल बोलता आत्मा है एक दल बोलता नहीं है और नहीं है कहने वाला तो जाने दो अस्थि कहने वालों में बड़े बड़े झगड़ा है कोई बोलता गुण वाला है कोई बोलता निर्गुण है हाँ। कोई बोलता एक है कोई बोलता अनेक है कोई बोलता है अणु परिमाण है कोई बोलता दुर्गु परिमाण है कोई कर्ता भोक्ता मानता है कोई अकर्ता भोक्ता मानता है किसकी बात सुनेंगे सामान्य जन के होने पर ये निरूपित होने वाला नहीं है आत्मा बहुधा चिंतमान बारी वाले भिन्न भिन्न प्रकार से चिंतन में डाला हुआ आत्मा को वो सगुण है अगुण है एक है अनेक है मध्यम परिमाण है अनुपरिमाण है विभु परिमाण है कर्ता है भोक्ता है अकर्ता है अभोक्ता है क्या क्या है माना हुआ है बहुधा चिंतमान है आत्मा इसलिए न नरेण अवरेण प्रोक्त ऐसा सूच्य है यह आत्मा बहुधा चिंतमान है बाहियों ने बहुत प्रकार से चिंतन का विषय बना हुआ है भिन्न भिन्न मतांतर बना रहा है इसलिए सामान्य व्यक्ति के द्वारा कहने पर यह आत्मा सुविज्ञ नहीं होता विशेष व्यक्ति चाहिए इसको बतलाने वाला तभी सुविज्ञ होगा ऐसा आया और नैशा तर्क मदिराप ने यह भी बोला है यमराज नचिकता के ये जो बुद्धि तुमने पाई है नचिकता आपका बुद्धि ये तर्क के द्वारा खोने योग्य नहीं है नैसा तर्गण मदिराप ने प्रोक्ता अनन्य सुज्ञान में दृष्ट कहा हाँ ये जो अनन्य पुरुषेण प्रोक्ता सुज्ञान भगवती यह कहा अनन्य भाव को पहुंचा हुआ व्यक्ति के द्वारा ही मैंने तार्किक से भिन्न को अन्य अन्य बोला अजनभाव होगा तो उनके द्वारा हटाने पर ही यह शुरू किया होगा अगर तार्किकों के चक्कर में पड़ोगे तो कहीं कहते हैं तो फंसा देंगे आप वो दिन को रात रात को दिन घोषित कर देंगे बना नहीं सकते हैं शब्द से बना देंगे दिन को रात बना नहीं सकते रात भी रात देंगे तो शब्द से बना देंगे वो बाचाल है ऐसे वहां लोग कुछ भी कर सकते हैं घोषित कर सकते हैं तो ये कहा हुआ है ये कहा नैसा तर्कण मत आपने यह प्रोक्ता आनंद सुज्ञान इत्यादि श्रुते स्वबुद्धिया ज्ञातुम असो अपने बुद्धि की कल्पना से आत्मा को जानना संभव नहीं है विशेष गुरु के पास ही जाना होगा स्वबुद्धिया ज्ञातुम असत्य तो अपने बुद्धि की कल्पना आपके बस की नहीं है ये नैया आदि अपनी बुद्धि की कल्पना में चलते हैं वो बुद्धिवादी हैं हाँ, विश्वासवादी नहीं है स्तृति में विश्वास नहीं करते अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा है उनको हमने जो निश्चय किया है वो सही है बस ऐसा होता है जैसे आज का विज्ञान है वैसे ही हो तो स्वबुद्धिया ज्ञातम असक्यत्वात असक्यत्व अवगात अपने बुद्धि से जानना संभव नहीं ऐसा जाना जाता है इसलिए संप्रदाय परंपरा एवं ज्ञातव्यत्व अवगात संप्रदाय परंपरा से ज्ञातव्य है संप्रदाय पुरस्कार परंपरा से जानने योग्य होता है इसलिए तेसाम तदरहित नैया की तार्किक आदि को संप्रदाय परंपरा अनुसार तो है ना अपनी बुद्धि के बल पर चढ़े हैं वो संप्रदाय परंपरा के अनुसार है ही अपने बुद्धि के बल पर हैं तेसाम तार्किका नाम तदरहित संप्रदाय परंपरा पुरस्कार नहीं होगा इसलिए भ्रमो युक्त उनको भ्रम होना सही है आत्मा की दृष्टि को अनित्य मानना सही है उनके उनके दृष्टि से सही है क्यों संप्रदाय परंपरा से पड़े नहीं वो अपने बुद्धि बल पर चले हैं जितना देखा उतना बोला इसे प्रमाण कुछ आई नहीं मम्मा वाक्यम प्रमाण मेरी वाक्य ही प्रमाण है बस श्रुति वाक्य कुछ नहीं उनके पास मैंने जो बोला वो सही है बस ऐसा है इसे कहा बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वसात को लोकस्य कहा भ्रम तभी भ्रांति तभी होती है बाह्य जो अनित्य दृष्टि उपाधि है इसी के कारण से लोग को भ्रांति हो जाती है तार्किका यह तो सामान्य लोगों को होगा बाह्य उपाधि जो बस आत्मा आत्मदृष्टि को भी अनित्य मानना और तार्किक लोगों को क्या होता है तार्किका नाम से नैयायिक आदि है तर्कशील उनका आगम संप्रदाय तत्व वेदांत संप्रदाय से रहित है वो तो अपने बुद्धि के भरोसे में है वो बुद्धिवादी है आगम संप्रदाय नहीं है वेदांत को परंपरागत पढ़ा नहीं उन्होंने आगम संप्रदाय करके तत्वात अनित्य आत्मा की दृष्टि भ्रांति उनको नहीं आत्मा की दृष्टि अनित्य का ना भ्रांति आदि वेदांत परंपरा से पढ़े होते तो आत्मा की दृष्टि कभी अनित्य नहीं बोलते हो वेदांत पढ़ा नहीं उन्होंने परंपरा से इसलिए उनको भी ठीक है भ्रांति होना ही कहा जीवेश्वर परमात्मा भेद कल्पना एतन निमित्ता एवं कहते हैं जीव ईश्वर परमात्मा का भेद पहले कहा था ना पूर्वाद में तीन आत्मा है आपने एक ही आत्मा कैसे बोल दिया एक जीवात्मा है ईश्वर आत्मा है निर्विशेष आत्मा तीन आत्मा है तब शुरू हुआ था जीव की सिद्धि करो कैसे जीव होता है यही से आता होता चिड़ा था तो कहा जीवेश्वर परमात्मा भेद कल्पना तीन आत्मा की भेद की कल्पना भी यही होता भ्रांति निमित्त की है वास्तव में एक ही आत्मा है तो भ्रांति निमित्त है बाह्य अनित्य दृष्टि वसात बाह्य अमित्र दृष्टि को लेकर के भ्रांति के कारण तीन आत्मा करके लोग बोल रहे हैं ये भी भ्रांति निमित्त का टिप्पणी एक नंबर की जीवेश्वर परमात्मा त्रिष्ट त्रिषठ पृष्ठ में कहा था इति उगता नो त्रय आत्मा ना पूर्वाधि ने शंका उठाई थी महाराज एक ही आत्मा है मैंने पूर्वाध्याय का निष्कर्ष सिद्धांत रहा था एक ही आत्मा है बाकी कुछ नहीं है जगत कल्पना मात्र है जो सृष्टि आदि बताई वो सारी कल्पना है क्योंकि विवर्तवाद है पहले एक ही आत्मा था उसमें कोई साधन नहीं था जैसे जादूगर का दृष्टान दिया अकेला आता है बहुत कुछ दिखाता है बाद में अकेला ही होता है वैसे एक ही आत्मा है पूर्वाध्याय का सारे तात्पर्य बताया था तो पूर्वाधि बोला एक आत्मा कैसे है आत्मा तीन है एक जीवात्मा एक ईश्वर आत्मा है एक परमात्मा तीन है कहा था त्रिशत पृष्ठ में बताया था इस, इस प्रकाश में ननु त्रय आत्मा ना उपक्रम अनुसार है जीवो ईश्वर ब्रह्म इति भेद कल्पना भेद कल्पना करेंगे वो तीन है तो कहते हैं ये भ्रांति निमित्त की है सिद्धांत निमित्त ये भ्रांति निमित्त है तीन आत्मा का तथा उसी प्रकार ये भी भ्रांति निमित्तक है अस्थि नास्ति इत्यादि कई है कोई बोलता आत्मा है कोई बोलता नहीं है अगर वेदांत के परंपरा से पड़ा होता तो अस्थि नास्ति आदि कल्पना नहीं करता कोई निश्चय है आत्मा के विषय में क्या अस्थि नास्ति बोलेगा अस्थि एक है अनेक है अगुण है सगुण है कोई कल्पना नहीं करता है कल्पना सब वेदांत संप्रदाय परंपरा वेदांत नहीं पड़ा है उसमें आगम संप्रदाय पुरस्तर नहीं है इसलिए ये सारी कल्पना करें भ्रांति तक है ये कहना चाहते हैं समय हो गया है यह रखते हैं फिर ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठित आदिरादिश्रुतम मे मां श्री गणेश हितम वरिष्यामि सत्यम वरिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति